वो आसमानों का और ज़मीन का और उसका रब है और जो भी उन दोनों के दरमियान है चुनाचे आप उसकी इबादत करो और उसी की इबादत पर पूरी तरह जमे रहो क्या आप उसका कोई हम नाम जानते हैं